ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ अध्याय चतुर्दश श्लोक तक विचार हो गया है इसमें भगवान तीन श्लोकों के द्वारा अपने विभूति का विस्तार किया यदादित्यगतम तेजो जगदवास है देख लम ये चंद्रवश चागनो तक तेजो बुद्धिमापम सबके पास में जो प्रकाश है वो प्रकाश मेरा स्वरूप है जो जो प्रकाश करने वाले पदार्थ है जितने भी संसार में ये तो ये प्रधान रूप से कहा गया तीन का नाम लिया है आदित्य चंद्र अग्नि बड़े बड़े देवता हैं बहुत प्रकाशवान है इसलिए इनका नाम जितने भी प्रकाशशील होंगे सब में जो प्रकाश है वो मेरा स्वरूप ही है और इस रूप से मुझे जान सकते हो निरपेक्ष भाव में जा सको तो कम से कम सभी से भाव में मुझको जानो ये कह रहे हैं दूसरे में कहा गामाविशेष भूतानी कहा पृथ्वी के नीचे प्रवेश करके पृथ्वी प्रवेश कर मही संपूर्ण भूतों का धारण में करता प्राणियों का धारण में करता हूं पृथ्वी जो टिकी हुई जिसके बल पर उस नीचे मैं हूं मैं धारण करके बैठा हूं और जितने भी वनस्पति आदि हैं अथवा औषधि आदि हैं जो भी हैं सबका पोषण करने वाले मैं हूं चंद्रमा बनकर के पोषित करता हूं कहा आगे कहते हैं अहम वैश्वारण भूतवा कहा था प्राणियों के माने जठर में भी तो पेट में भी तो मैं हूं मैं ही होता हूं वैश्वर अग्नि जिसका नाम है हम वैश्वानर प्राणी नाम देह मास्त्र वैश्वर अग्नि होकर के प्राणी के शरीर में हूं मैं शरीर के भीतर रहता हूं प्राणापान समायुक्त दो के साधन करके प्राण और पान को लेकर मैं ही खाया हुआ अन्न को पचाने वाला मैं हूं जो चार प्रकार का अन्न प्राणी सेवन करते हैं चबा कर खाना जैसे पशु आदि को घास आदि चबाना होता है मनुष्यों को दाल रोटी आदि चबाना होता है चबा कर खाए जाने वाले भक्ष दूसरा पूज्य होता है बिना चबाए खाने वाले हलवा आदि जो होते हैं और तीसरे होते हैं चुष्य चूसने योग्य जैसे गन्ने आदि होते हैं चूसना भक्तना ऐसा होता है और एक लेई होता है चाटने योग्य होता है चार प्रकार का अन्ना अन्न तो बहुत प्रकार के उसको ग्रहण करने का साधन चार ही है चार तरह से हम ग्रहण करते हैं इसलिए चार प्रकार का मैं कहा वही जैसे विषय अनेक हैं किंतु पांच ही हम विषय को भोग करते तो पांच रूपये विषय भोग करते हैं शब्द स्पर्श रूप गंध के रूप में इसलिए पांच विषय कहा गया वैसे तो विषयों की संख्या आनंद होंगे इसी प्रकार अन्न भी अनेक प्रकार के हैं किंतु चार प्रकार से हम उपयोग प्राणी उपयोग में लेते हैं उनको या तो चबाएंगे या ऐसे निगलेंगे या चाटेंगे या चूसेंगे चार प्रकार में कहा हुआ है तो मैं पचाने का काम मैं ही करता हूं देव ऐसी जाठ अग्नि न हो भीतर अग्नि न हो अन्न पचेगा नहीं पचाने का काम कर रहा हूं माने अगर बुद्धिमान व्यक्ति होगा ऐसे स्थान में भगवत दृष्टि जरूर करेगा भगवान को जाने के लिए निर्विशेष है वैसे तो सामने नहीं आने वाले कोई होगा इन्हीं रूप में समझना है जैसे दसम अध्याय जो विभूति का विस्तार किया उस निर्विशेष तत्व में तुम्हारी स्थिति नहीं है उसमें पकड़ नहीं है तो कम कम विशेष विशेष स्थान में तो भवबुद्धि करो परमात्मा है निश्चित करके चलो इस प्रकार यहां भी है एक श्लोक और है यही बोलना चाहते हैं ठीक है इतस्त सर्वात्मत्व सर्वरूप होने से परमा ये हेतु और भी है परमात्मा सबके आत्मा बन के बैठे हुए हैं बोलता सर्वस्व चाहम हृदय से हो भाई हृदय माने बुद्धि है हृदयस्थ बुद्धि के सन्निविष्ट समीप होकर के उसके गुण दोष को देखने वाला मैं हूं बुद्धि क्या काम कर रही है बुद्धि में कौन से गुण है कौन से दोष है ये बोलना चाहेंगे इतस्त मैंने अस्माद अधिकार इस हेतु से भी आगे एक हेतु और देने वाले हैं सर्वात्व न भगवान को सर्वरूप से बताए गए हम भगवान श्री कृष्ण सर्व व्यवहार पर तो सारे व्यवहार का आश्रय पे तो भगवान आत्मा आत्मा के बिना कोई व्यवहार नहीं होगा आत्मा न हो जहां वृत्त शरीर में व्यवहार नहीं होता सर्व संपूर्ण व्यवहार का कारण भी आश्रय भी आत्मा है ये बोलना जो सर्वात्मा है परमात्मा सबके आत्मा है सबके भीतर बैठे हुए ये अगले श्लोक में बताया गया ये कहना किंच इत्यादि सबसे कहा है श्लोक है आगे सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्जानमपोहनं च वेदैः भवेद्यो वेदात वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनम् च वेदैश्च सर्वैर्हमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम् अहम सर्वस्व च हृदय हृदय सन्निविष्ट अहम मैं परमात्मा प्राणी मात्र के हृदय में सन्निविष्ट हूं हृदय माने बुद्धि हृदय से बुद्धि को लगा हृदय माने हार्ट को हृदय कहते संस्कृत में मांस से पिंड नहीं रहा है यहाँ तटस्थ लक्षणा करनी है मैंने जहां लक्षण हृदय में आश्रित जो बुद्धि है उसमें हृदय हृदय में बोलना चाहते हैं हृदय शब्द का हृदय सप्तमी है सबके हृदय में रहने वाला बुद्धि के सन्निविष्ट होकर समीप में निविष्ट ही सम्यक निविष्ट बुद्धि के पास में रहने वाला मैं होता हूं क्या करता हूं उसके गुण दोष को देखता हूं उसी के आधार पर आगे कर्म का फल दे रहा मैं बुद्धि के गुण और दोष को देखता हूं कहते हैं देखने वाला मैं होता हूं मत्त स्मृति ज्ञान मपोहरंज कहते हैं मेरे से ही होता है मत्त पंचमी मेरे से ही होता है स्मरण और ज्ञान भी मेरे से होता है स्मृति स्मरण है और ज्ञान और उसका अपोहन नाश भी मेरे से होता है कैसे पूर्व जन्म के अनुभूत अनुभव का अनुभव किया था पूर्व जन्म में दूरस्थ था बहुत दूर था और इस जन्म में क्या होगा स्मरण होता है कभी कभी जैसे पैदा होते हैं मैं अमुखा करके बोलते हैं मेरे कारण ही होना पूर्व जन्म का स्मरण आदि होना ज्ञान में दूरस्थ वस्तु हो अर्थात व्यवहार व्यवधान युक्त वस्तु हो उसको भी जानने वाले होते हैं जैसे योगियों के लिए बारे में बोलते हैं बम्बई आदि में अभी कौन सी घटना इस समय घटी वो तुरंत बताने की शक्ति होती सामर्थ्य ऐसे बोलते हैं ऐसे ज्ञान दूरस्थ वस्तु हो काल का व्यवधान हो पूर्व काल पूर्व जन्म का ज्ञान उत्तर काल में किसी को होता है ऐसा ज्ञान काल का व्यवधान हो देश का व्यवधान हो दूर देश में जो घटना घटी हो यहां भी आदि होना ऐसा ज्ञान इत्यादि व्यवधान युक्त हो उसका ज्ञान ये सब ज्ञान मेरे से होता है क्यों उसके पुण्य कर्म के आधार पर होगा निमित्त तो होगा उसे पुण्य कर्म का पुण्य कर्म आधार बनता है जैसे कर्म किया होगा उसके आधार पर पुण्यकर्म होगा जो उसके लिए ऐसे ऐसे ज्ञान होने की संभावना होती है वो मेरे से होता हो और जो पाप कर्मा होगा उसका अपोह होगा स्मृति भी नहीं होगा पूर्व जन्मादि की स्मृति भी नहीं होगी उसको कभी और देश काल वस्तु आदि से जो दूर है ऐसे वस्तु का ज्ञान भी नहीं होगा उसको अपोहन होना नाश होना ये दोनों काम मेरे से होता है किंतु तो पाप और पुण्य को निमित्त बना करके पुण्यात्मा के लिए होता है स्मरण स्मरण भी होता है ज्ञान भी होता है दूरस्थ वस्तु का ज्ञान आदि अपापात्मा को नहीं होता ये दोनों काम मेरे से होता है क्यों मैं हृदय के सन्निविष्ट हूं हृदय को मानी बुद्धि के समीप पर बैठा हुआ वो बुद्धि के गुण दोष को बचा कैसे काम किया उसने शुभ चिंतन किया अशुभ चिंतन किया क्या काम किया क्यों बुद्धि जैसे सोचते है वैसे काम होता है शरीर उसी प्रकार से चलते हैं पुण्य पाप आदि कर्म पहले बुद्धि में निर्णय लेता है ये करना है निर्णय वहां होने के बाद शरीर को लगाता है तो पुण्य पाप के आधार पर मेरे से स्मरण होना मेरे से ज्ञान होना और मेरे से अपोहन होना पापात्मा हो गया वो नहीं होता ये बात अपोहन पापी के लिए और स्मरण ज्ञान माने ज्ञानी के लिए ऐसा है पुण्यात्मा के लिए स्थिति है मत्स स्मृति ज्ञान अपोहन तेरा मेरे से ही होगा ये भी सबके हृदय में हृदय में सन्निविष्ट होकर के बैठा बुद्धि में बुद्धि के समीप में बैठा होता हूं उसके गुण दोष को देख रहा हूं पुण्य है पाप है क्या है वहां तो उसके आधार पर स्मरण और ज्ञान भी मेरे से होना उसका अभाव अपोहन होना नाश ज्ञान और स्मरण का नाश भी मेरे से होना पुण्य पाप के मैंने सहारा लेकर के ये काम करता हूं मैं तो मत्ता में एक टिप्पणी दी हुई है मेरे से होता है मैंने क्या है मत्ता माने अस्मत शब्द है पंच मेरे से कौन है मेरे बोलने वाले कौन है ये प्रश्न होता है मत्त मैंने आत्मा है तो मैं जो आत्मा हूं ना इसी से होता है सब आत्मा के कारण ही होता है सब स्मृति ज्ञान आदि कहा क्यों सएव यह प्रविष्ट ऐसा श्रुति है वही आप प्रविष्ट हो चेतासूत्र ने ये इसमें हाँ बिरादा इत्यादि दक्षिण लेकर के सिर तक वही प्रविष्ट है सएव यह प्रविष्ट इस शरीर में भी प्रविष्ट हुआ जिसने शरीर को बनाया वही अप्रविष्ट हुआ और अनेर जीवन आत्मा अनुप्रविष्ट नाम रूपे व्याकरवाणी नाम शब्द छूटा हुआ है टिप्पणी में केवल रूपे बना दिया नाम रूपे प्रथमा दो वजन है मैं इस जीव रूप से अपने रूप से तो प्रवेश नहीं करूंगा औपारिक रूप से प्रवेश कर जीव रूप से जीवे आत्मना जीव रूपे न है अनुप्रविश्य पहले प्रवेश करके उसके भीतर प्रवेश कर नाम रूपे व्याकरवाणी जो प्रलय काल में नाम रूप जगत शरीर आदि का अभाव नाम भी नहीं था देवदत्ता एक नाम भी नहीं था उस काल में और आकार भी नहीं था उसी को मैं थूलीभूत करता हूं ये कहा हुआ छांदो की बात है श्रुते इत्यर्थ का ये श्रुति है अब यह प्रविष्ट और अरे मेरा आत्मना अनुप्रविष्ट नाम रूपे वाणी ये दो श्रुति का आधार लेकर के कहा यहां हृदय सन्निविष्ट कहा हुआ है हृदय में समीप रहने वाला आत्मा ही है आत्मा ही प्रविष्ट हुआ है ये कहा और वेद से सर्वे रह चारों वेदों के द्वारा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद जितने वेद है संपूर्ण वेदों के द्वारा जान योग्य मई होता हूं वेद्यमय होता हूं मैं ही वेद्य हूं अन्य विषय वेद्य नहीं है जान योग्य वेद से सर्व सर्वैर्वेद वेद ही जितने वेद है सबके द्वारा अहमेव वेद्य मैं ही वेद्य होता हूं जान योग्य पदार्थ है वेद में है तो मैं हूं भगवान है परमात्मा है ये कहा वेदांत कृत और वेदांत मैंने उपनिषद होता है वेदाराम अंत वेदांत वेदों के जितने भी शाखाएं हैं तत्त शाखा के अंतिम भाग में उपनिषद है गोपनीय बात है पहले कर्म और ज्ञान प्रत्येक शाखाओं में ऐसे होंगे कर्म बताएंगे ज्ञान बताएंगे ये उपासना कर्म उपासना अंतिम में ज्ञान ज्ञान का तो वेदांत के द्वारा उपनिषद करता है उपनिषद का करता आता है तो वेदांत तो बने वेद है तो वेद तो अनादि अपौरुषय है कैसे करता बनेगा परमात्मा अनादि अपौरुषय सिद्ध किया हुआ है वेद को तो कैसे होगा या वेदांत कृत का अर्थ होता है वेदांत परंपरा को चलाने वाले जो बनाता हूं ऋषि मुनि आदि को जो बनाने वाला मैं उपनिषद होकर जो परंपरा चलाने संप्रदाय प्रवर्तक उनको बनाने वाला मैं होता हूं यह अर्थ है और वेद भी देवच हम वेद का व्यक्ता भी मैं हूं तो वेद का क्या व्यक्ता होना शब्द का माने वेद के अर्थ का व्यक्ता वेद में गया जो विषय है उनको व्यक्ता भी ऐसा अर्थ है वेदवित का अर्थ वेदार्थवित भाष्यकार वेद के अर्थ को जानने वाला भी मैं होता हूं बाकी लोग वेद के अर्थ समझते नहीं जैसे झगड़ा है द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत शुद्धाद्वैत क्या क्या द्वैत मानते हैं ये झगड़े क्यों है मुख्य वो मंत्र का ख्याल तो है नहीं अपने अपने घसीट लिया अपने अपने विचार से घसीट लिया सारों ने सांप्रदायिक ग्रंथ बना रखा भाष्य आदि जितने भी है कारण यही है जिसने जिस ढंग से देखा उसने उसी ढंग से बोला बात इतनी है ऐसी स्थिति हो रखी तो वेद माने वेद के अर्थ को जानने वाला भी वास्तव में मैं हूं वो परमात्मा वही बोलते हैं जो उन्होंने वेदांत प्रवर्तक जो आचार्य लोगों को बनाया हुआ है उसी माध्यम उसको भी उसको भी जानते आया हुआ है अहम कहा भाष्य वगैरह सर्वस्व प्राणी जात अहम आत्मा सर्वस्व चाहम हृदय विष्णु का अहम मैंने आत्मा मैं आत्मा हूं प्राणी वर्ग जितने भी है संसार में सबके आत्मा केवल मनुष्य मात्र एक प्राणी वर्ग मात्र सर्वस्व प्राणी जाते से संपूर्ण प्राणी वर्ग का अहम आत्मा अहम माने आत्मा मैं आत्मा सन आत्मा होता हुआ माने स्वरूप होता हुआ हृदय माने बुद्ध सन्निविष्ट हृदय का अर्थ बुद्धि हृदय हृदय का हृदय माने हार्ट में होना चाहिए हार्ट में नहीं माने उस हृदयस्थ बुद्धि जहाज लक्षण करना है हृदय को छोड़ करके हृदय के जहां संबंध है संभव है कि बुद्धि में वहां जाना है सन्निविष्ट बुद्धि में सन्निविष्ट हूं समय प्रकार है निविष्ट समय प्रकार से प्रविष्ट हूं भाई बैठा हूं अतः इसी कारण से मैं हृदय मानी बुद्धि का सन्निविष्ट होकर बैठा हूं अतः इसी कारण से मत्त आत्मना मत माने मुझे आत्मा से चाहिए मत्त स्मृति ज्ञान में पहुंच जाए मत्त हमारे आत्मना मैं जो आत्मा हूं मेरे से ही सर्व प्राणी नाम स्मृति ज्ञानम तद अपौन प्राणी मात्र में जितने भी हैं सभी का स्मृति और ज्ञान मैंने पहले अनुभव किया हुआ पदार्थ का भी स्मरण होना याद आना और अनुभव होना दो बातें हैं पहले अनुभव होना है बाद में स्मरण होना है ये दो और तद अपोहरण स्मृति ज्ञान तयोर अपोहरण तद अपोहरण वो दोनों का अपोहरण मैंने नाश ये मेरे से होता है तो स्मृति ज्ञान होना और अपोहन सबके लिए कहते नहीं विभाग करते दो विभाग ऐसा पुण्यकर्म नाम जो पुण्यकर्मा होंगे तो पुण्य काम कर्म करने वाले होंगे उनका पुण्यकर्मा अनुरोध है ना वो पुण्यकर्म के अनुरोध के द्वारा ज्ञान स्मृति भवत मेरे से ही ज्ञान और स्मरण दोनों होता है स्मृति मान स्मरण है तो तथा पापकर्मिणा उस पर जो पापकर्मी लोग हैं उनका पापकर्मा अनुरोध है ना मैं पाप कर्म और द्रोह से क्या करता हूं मृत्यु ज्ञान और अपोहनम तद अपोहनम तद अपोहन का स्मृति और ज्ञान का अपोहन नाश माने अपायनम अपगमनम जा चले जाते हैं दोनों नहीं रहते उसके पास पाप कर्म के पास पूर्व अनुभव किया वो पदार्थ का ख्याल भी नहीं रहता और अनुभव भी नहीं होता स्थिति है और वेद से सर्वे हवे वेद्यो कहा हुआ सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं होता हूं बोला तो कहते वेद से सर्वे अहमेव परमात्मा अहम अहम का अर्थ क्या है अहमेव मैंने परमात्मा मैं परमात्मा हूं मेरी विशेष आत्मा वेद्य मैं वेद नहीं होता हूं जानने योग्य मैं होता हूं वेदितव्य वेद्य कर दे वेदितव्य तव्य लगा दिया मैं जानने योग्य होता हूं और वेदांत कृत यह है आगे वेदांत कृत मैंने वेद के अंत को उपनिषद बोलते हैं वेदांत मैंने उपनिषद को कहा जाता है माने वेदांत कृत अर्थ है वेदांतार्थ संप्रदाय कृत इत्यर्थ वेद के अर्थ को प्रकाश करने वाले जो परंपरा चल रही है उसको बनाने वाला मैं हूं तो वेदांत बनाया नहीं जाता अनादि है अपौरुषय है तो अनादि है किसी पुरुष के द्वारा प्रेरित नहीं है जो वेद का लेखक नहीं मिलता बाकी सबका लेखक मिलेगा कोई ना कोई नाम होगा अमुक ने बनाया अमुक ने बनाया अमुक विरचित विरचित लिखते हैं किंतु वेद का वेद में नाम नहीं है एकक का नाम नहीं है अनादि अपौरुषय है इसलिए वेद को बनाने वाला तो नहीं हो सकता हूं मैं किंतु वेदांत कृत कहा वेदांत कृत कहते वेदांत संप्रदाय कृत वेदांत परंपरा उपनिषद के परंपरा को चलाने वाले जो आचार्य लोग हैं उनको बनाने वाला मैं क्या अर्थ है इसका वेदविद वेदार्थविद एक बता होगा वेदविद का अर्थ वेद को जानने वाला नहीं वेद के अर्थ को जानने वाला भी मैं होता हूं वेद में क्या कहा वास्तविक अर्थ मैं ही जानता हूं बाकी जो तो झगड़े में पड़े हुए सारे आचार्य जितने भी हैं नहीं तो द्वैताद्वैतवादी आदि कहां से आते सारे अपने मन से अपने जहां तक देखा ही लिखा उन्होंने तो उपनिषदों के अर्थ को जानने वाले भी वास्तव में मैं हुए अर्थ है अच्छा ठीक है अच्छा देखें ठीक है कहते हैं प्राणी आतम भाष्य में आतम लिखा हुआ है सर्वस्व प्राणी जात से इत्यादि है प्राणी जात मान प्राणी वर्ग वाले ब्रह्मादि पुट्टी का अंतम कहते हैं ब्रह्मा से लेकर के छोटे छोटे मान मक्खी मच्छर तक छोटे छोटे जंतु जो होते हैं उन्हीं को पुत्तिका कहा जाता है तो ब्रह्मा से लेकर के पुत्तिका माने छोटे छोटे जीव जो होते हैं वहां तक यही है सबके हृदय में बैठने वाला मैं हूं सर्वस्व चाहम मृत सन्निविष्ट का है सबके हृदय में हृदय बुद्धि में अपने बुद्धि के अनुसार व्यक्ति चलता है और बुद्धि होती है बुद्धि कर्मानुसारिणी हर व्यक्ति की बुद्धि अपने कर्म कर्म के अनुसार पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार बुद्धि मिलती है और बुद्धि के अनुसार व्यक्ति चलता है पापी होगा पूर्व जन्म का अभी भी बुद्धि उसी प्रकार की बनेगी संस्कार होगी उसके पास कोई संस्कार का पाप के तरफ ही जाएगा पुण्यात्मा पूर्व जन्म का पुण्यात्मा होगा उसका संस्कार है बुद्धि में तो उसी प्रकार चलेगा जो बुद्धि कर्मानुसारिणी कहते हैं बुद्धि कर्म के आधार पर है कौन सा कर्म पूर्वकृत कर्म पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर बुद्धि होती है बुद्धि के अनुसार प्राणी चलता है इसलिए पाप कर्म में लग जाते हैं लोग स्थिति ऐसी हो जाती है प्राणी यादव मैंने ब्रह्मादि का अंत कहा एक संपूर्ण प्राणी वर्ग के हृदय में रहने वाला सर्वस्व चाह हृदय विष्णु का तो यही है सब में रहने वाला मैं हूं कहा आत्मतया किस रूप से उसके स्वरूप में रहता आत्म रूप से रहता हूं भिन्नत्व नहीं स्वरूप आत्मतया बुद्धौ सन्निविष्टत्व बुद्धि के समीप में रहता हूं मैं रहते हैं माने तद तदगुण दोषाणाम रखता दृष्टतम सन्निविष्टम का अर्थ यही है उसके जो तद मेरी बुद्धि है बुद्धि के जो गुण और दोष है उसको संपूर्ण रूप से देखने वाला साक्षी रूप से देख रहा हूं क्या काम कर रही बुद्धि उसी के आधार पर स्मृति ज्ञान और तत्व अपहन करना है जाएंगे और स्मरण आएगा ज्ञान होगा तो अच्छा काम में लग जाएगा आगे भी और स्मरण में ज्ञान नहीं तो क्या होगा नाश होगा अधोगति में जाएगा स्वतः जाएगा जिसको ऊपर ले जाना चाहते हैं उसकी बुद्धि को ठीक कर देते परमात्मा जिसको नीचे करना हो बुद्धि बिगाड़ देते बात इतनी है और कुछ नहीं करते किसी को गला पकड़ के नीचे ऊपर नहीं करते परमात्मा बुद्धि में कुछ भेदभाव करा देते हैं उसके कर्म के आधार पर लेकर कहा तो हृदय सन्निविष्टम का बुद्धव सन्निविष्टम कहा है आप और उसे बुद्धि के समीप में रहता हूं मैं तदगुण दोषाराम अशर दृष्टित्व का माने बुद्धि के जो गुण और दोष है उस संपूर्ण रूप से दृष्टा होता हूं मैं यही है यही दिशा निविष्ट का अर्थ यही है अतो इसी कारण से उसके समीप बुद्धि के समीप में बैठा हुआ हूं इसको क्या कर रही बुद्धि देखता हूं इसलिए अतो बुद्धिमत दृष्ट से बुद्धि के मध्य में स्थित हूं तो भाई सन्निकृष्ट हूं बैठा हूं इसलिए गुण दोष दृष्टित्वात उसके गुण और दोष का दृष्टा हो जाता हूं ना इसी कारण से मत्स्य स्मृति ज्ञान बपोहन इसी आगे तर्क दे रहे मेरे से ज्ञान स्मृति और अपोहन मेरे से होता है यही है मत्त यही है मत्त सर्वाकर्माध्यक्ष अध्यक्षात जगत यंत्र सूत्रधारा एक मत्त का संपूर्ण कर्म का अध्यक्ष हूं दृष्टा हूं मैं अध्यक्ष वाले प्रत्यक्ष दृष्टा क्या कर रहा है ये व्यक्ति सर्वकर्म अध्यक्ष पाप पुण्य जैसा भी कर्म करता हो दिन में करता हो रात में करता हो शाम करता हो सुबह करता हो पूर्व करता आगे करता कभी करता अपने को ज्ञान होता है आत्मरूप से ठीक है वो दूसरे को भले छिपाएगा अपने तो बोलता नहीं संपूर्ण कर्म का अध्यक्ष हो दृष्टा हो सर्वकर्माध्यक्षात कहा मत का अर्थ ही है मैं समूर्ण कर्म का उसके कौन कौन कर्म है कैसे कैसे कर्म है कहाँ किया कैसा किया सबको जानता हूं अध्यक्षात जगत यंत्र सूत्रधार ही था जगत रूपी जो यंत्र है शरीरादि रूपी जो यंत्र है ना उसके सूत्रधारक मैं पकड़ने वाला मैं जैसे मदारी होता है लकड़ी के पहले जमाने में लकड़ी के मैंने कुछ चिड़िया आदि अथवा पशु आदि कुछ मनुष्य आदि बनाते थे उसमें धागा लगा करके छोटे छोटे जोड़े हुए हैं धागा से खींचते थे इधर उधर खींचते तो नाचना जैसा होता था ऐसा दिखता था उसको कहते हैं जगत रूपी यंत्र के सूत्रधारक भाई हूं उसके सूत्र पकड़ने वाला भाई हूं आगे अष्टादश अध्याय में जाकर बोलिए ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय शरीर प्रतिष्ठती ब्राह्मण सर्वभूतानी यंत्राय यही दृष्टांत देंगे वहां तो मत का अर्थ यही है सर्वकर्माध्यक्षात एक पंचमी है मत का मैं संपूर्ण कर्म का अध्यक्ष हूं प्रत्यक्ष करने वाला हूं और जगत यंत्र जो जगत रूपी यंत्र है उसमें सूत्रधारक वही होता हूं जैसा नचाना होगा मैं नचाता हूं उसको उसके पाप पुण्य के आधार पर मैं अपने स्वतंत्रता से नहीं नचाता उसके पाप पुण्य के आधार पर किसी को और ज्ञान रूप में दिखा दिखाई देगा किसी को उसका अपवन होगा ये कहना है प्राणी नाम स्मृति ज्ञान हो तद अपाय से भगवत अधिरत्व भगवतो वैषम्य से आदित्यास प्राणियों में जो स्मरण होना ज्ञान होना और उसका अपायन होना अपोहरण देगा नाश होना तो यदि भगवान के अधीन हो ये बातें तो भगवान गुणदोष से लिपायमान हो जाएंगे किसी को स्मरण और ज्ञान देना किसी को उसका नाश कर देना भगवान वैषम में दोष आएगा कौन सा दोष हाँ, एक में ऐसा ज्ञान और स्मरण देना दूसरे में अपहन कर देना वैषम दोष भगवान के अधीन यदि हो तो ऐसा कहने पर कहते नहीं नहीं उनके पुण्य पाप के आधार पर करता हूं पूर्वजनों के पुण्य पाप को लेकर के जैसा किया होगा उसके आधार पर गुण या दोष जैसा आएगा उनमें वो संस्कार आएगा उसको देख करके भाई ये करता हूं स्मृति स्मरण देता हूं ज्ञान देता हूं अथवा अपहन करता हूं ये करना है ऐसा इत्यादि कहा वैषम्य दोष मेरे में नहीं आने वाला है भगवान क्यों उनके कर्म के आधार पर देता हूं ये कहना है ये शाम पुण्य कर्मणाम पुण्य जिस जिन पुण्यकर्मा हैं पहले जन्म में पुण्य करके आए आए हैं उनमें पुण्यकर्म का अनुरोध से ज्ञान स्मृति भवता ज्ञान और स्मृति यही होगा ज्ञान होगा स्मरण होगा जो पहले अनुभव होगा अनुभव होगा स्मरण ख्याल आएगा तथा उसी प्रकार पाप कर्मिणा जो पाप कर्म करके आए हुए हैं उनका पाप कर्म अनुरूपेणा उसके कर्म के आधार पर ही स्मृति ज्ञान यो अपहरण तत्का अर्थ स्मृति ज्ञान जो तो है उसका अपहन यही होगा तो अपायनम अपगमन जगह अपायन होना अपगमन होना यही मेरे से होता है उन्हीं पाप कर्म के आधार पर पाप पुण्य कर्म के आधार लेकर के मैं काम करता हूं इसलिए तो मुझे वैषम दोष नहीं आएगा क्योंकि जैसा बीज होगा जैसे पानी सबको पुष्टि करने वाला होता है कोई भी बीज आदि को वृक्ष आदि सिंचाई के बिना कोई भी नहीं होते वो जो एक में खटास होना एक में मिठास होने में क्या कारण होगा उसके बीज कारण जल कारण नहीं वहां नींबू में खटास है गन्ने में मिठास है तो पानी तो सबके लिए बराबर दिया गया जैसे पोषक बना हुआ है तो क्या पानी में दोष दे सकता कोई जल को नहीं दे सकता उसके बीज दोष है ठीक इस प्रकार यहां भी है ये जीवों को जो पाप पुण्य कारण फल भोगना होता है अपने पाप कर्म पुण्य कर्म के आधार पर ही होता है भगवान जितना काम करते हैं उसके अनुसार लगा देते हैं ला देते हैं वैश्य में दोष आने वाला नहीं है भगवान <clears throat> स्मृति जन्मांतर अदो अनुभूत से परामर्श ये कहते हैं स्मृति मानी क्या है हम्म, मत का स्मृति ज्ञान वो स्मृति मानी क्या है जन्मादि पूर्व जन्मादि में जो अनुभव किया हुआ था उसका अभी ख्याल आ जाना उसको कहते हैं स्मृति इतने दूर की बातों का ख्याल आ जाना हमारे जैसों के लिए तो कल की बात ख्याल नहीं भूल जाते हैं स्थिति ऐसी है स्मृति माने जन्मांतरादो जन्मांतर आदि में दूर दूर में अनुभव किया है उसका याद आ जाए परामर्श हो जाना आज ख्याल आ जाना यह स्मृति माना जो पुण्यात्मा होंगे उनको ऐसा हो जाता है और देश काल स्वभाव विप्रकृष्यापी ज्ञान अनुभव अनुभव मैंने क्या है यहां का ज्ञान तो अमुक व्यक्ति है कोई भी जान रहा है प्रत्यक्ष है सामने है क्योंकि तो देश का व्यवधान है दूर देश में है उसका भी ज्ञान हो जाना प्रत्यक्ष हो जाना जैसे योग सूत्रादि में चर्चा योगियों को ऐसा ज्ञान होता है करके प्रत्यक्ष होता है इस प्रकार की बातें हैं तो देश काल काल पूर्व काल की बातों का भी ख्याल आ जाना जैसे पूर्व जन्म का ख्याल आ जाना काल का व्यवधान है दूर देश के व्यवधान दूर में है उसका ज्ञान होना अथवा स्वभाव माने अपने में स्वभाव जैसे मनुष्य कभी इस शरीर में उड़ नहीं सकता किंतु पक्षी के उड़ने का ज्ञान होना अपने स्वभाव के विपरीत का भी ज्ञान हो जाना मत्स्यादि कैसे चलते हैं जल में हम चल नहीं सकते उनका भी ज्ञान होना इस प्रकार चलते करें प्रत्यक्ष होना ये स्वभाव से विपरीत का भी ज्ञान अपने स्वभाव मनुष्यों का कोई जल में तैरना भी नहीं है और आकाश में उड़ना भी नहीं है उसका ज्ञान भी तो होना स्वभाव से विप्रकृत से दूर है हम स्वभाव अपने स्वभाव से जान नहीं सकते पक्षी का उड़ने का अभ्यास जो तो है हम जान नहीं सकते अपने स्वभाव से मनुष्य स्वभाव से नहीं जान सकता किंतु वो पक्षी जिस प्रकार उड़ते उसका भी ज्ञान होना मत स्मृतिर ज्ञान का अर्थ ज्ञान ऐसे ज्ञान दूरदेश का ज्ञान और मान भूतकाल आदि का ज्ञान पूर्वजन जन्मांतर आदि का ज्ञान और स्वभाव अपने स्वभाव से विपरीत वस्तुओं का भी ज्ञान उनके गमन आदि का ज्ञान होना ऐसा इतने विप्रकृष्ण से आदि दूर होने पर भी देश से दूर है काल से दूर है स्वभाव से दूर है ऐसे वस्तु का ज्ञान होना इसको ज्ञान कहा जाता है मत्स्य स्मृति ज्ञान स्मृति का अर्थ होता है जन्मांतर में अनुभव किया था आज इस जन्म में ख्याल आ जाए मैं अमुक था कहने वाले कुछ होते हैं लोग ये कब कहा ज्ञान इसको अनुभव कहा है देश काल स्वभाव से विप्रकृत दूर है ऐसे वस्तु का ज्ञान होना यह कहा ज्ञान धर्माधर्म विचित्रम कुर्बतो नेश्वर से वैश्व हाँ माने जब किसी को पुण्य क्या है किसी को स्मरण और ज्ञान देना किसी को उसका अपहरण करना तो भगवान विषमता दोष है वैषम्य दोष है भगवान शुद्ध नहीं है दोषी है एक कहने पर कहते नहीं धर्म का विचित्र अरे बाबा धर्म धर्म का वैचित्र तो उसने किया है परमात्मा ने नहीं किया परमात्मा तो जैसा किया वैसा उसी प्रकार फल देने वाला फलदाता होते हैं वो कुछ विषमता करने वाले वो नहीं है उसके कर्म के आधार पर है ठीक है धर्म और धर्म दो कारण है ये वैचित्र विचित्र लाने के लिए किसमें स्मृति ज्ञान होना अथवा अपहन होने का कारण धर्म अधर्म पाप पुण्य यही है न ईश्वर से वैषम्यम ऐसे भगवान केवल विचित्र बना देते हैं किसी को ज्ञान स्मृति देते हैं किसी को अभाव कर देते हैं ईश्वर से न वैषम्यम यदि आप विषमता नहीं ईश्वर में वो विषमता उनके कर्मों के कारण है और जीवों के कर्मों के कारण है ईश्वर में नहीं है ने कहा वेद वेद्य में आया वेद से सर्वे हमें वेद्य आया हुआ है वेद का वेद के द्वारा वेद्य भी जानने योग्य मैं होता कहा परम ब्रह्म वेद वेद को पर निर्विशेष ब्रह्म वेद के द्वारा जानने योग्य भगवतो अन्य आह शंका भगवान से भिन्न है वेद के द्वारा वेद्य जो पर ब्रह्म होगा भगवान से भिन्न है ये शंका होगी किसी के मन में हाँ, जो निर्विशेष ब्रह्म है वो भगवान से भिन्न होगा वेद वेद्य जो होगा ये शंका के खंडन करते हैं वेद से सर्वे रहवत जो संपूर्ण वेद को जानने वाला मैं ही हूं भगवान से भिन्न मैं नहीं हूं भगवान भगवान लोग बोलते हैं उपाधि विशेष दशा में बोलते हैं किसे दशा में भगवान कह जाते हैं मैं निर्विशेष सत्ता में हूं विशिष्ट शुद्धात्मा अतिरिक्त न्याय होता विशिष्ट होता है शुद्ध से अतिरिक्त नहीं होता एक देवदत्त व्यक्ति है जिसको देवदत्त कहा जाता है उसने कुंडल पहन लिया कान में अब भिन्न हो गया क्या वो अब विशिष्ट हो गया पहले विशिष्ट नहीं था शुद्ध था देवदत्त था अभी कान में कुंडल लगा दिया कुंडल विशिष्ट हो गया तो कुंडल विशिष्ट व्यक्ति से शुद्ध व्यक्ति भिन्न है क्या विशिष्टम शुद्धार्थ अतिरिक्त विशिष्ट जो होता है शुद्ध से अतिरिक्त होता नहीं है सोना था आभूषण बन गया तो जो आभूषण सोने से भिन्न है क्या विशिष्ट बना अभी हाँ, टेढ़े बेड़े आकार में आ गया सोना की एक डल्ली थी वो शुद्ध अवस्था अब विशिष्ट अवस्था में आ गया वो क्या भिन्न हो गया नहीं होता इष्टम शुद्धांगात ऋषित या नहीं आगे ऐसा बोलते ठीक है यहां वेद वेद्यम परम ब्रह्म भगवतो अन्य संकाम आ रहे थे वेद के द्वारा वेद्य जो परम ब्रह्म है ना भगवान से भिन्न है ऐसा किसी के मन में शंका आ जाए तो उसको निषेध करते हैं वेदेश सर्वे रहम वेद का संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य मही ही होता हूं यही आया ठीक है वेद सर्वे हमें परमात्मा वेद्य मैं परमात्मा ही वेद्य होता हूं मानी वेद्य माने वेदितव्य यही है यद प्रत्यय करते हैं तो बनेगा वेद्य और तव्य करेंगे तो वेदितव्य इतना ही है कृत्य प्रत्यय दोनों और वेदांत वेद विदे बचा हम आगे है वेदांत को बनाने वाला जो बनाने वाला उपनिषद होता है उसको बनाने वाला भाई तो वेदांत बनाया नहीं जाता उपनिषद नित्य है उपनिषद होगा लिपि नहीं हम जो बनाते हैं अक्षर बनाते हैं तो हमने बनाया हुआ है वो तो चिन्ह बनाया इस चिन्ह को देख करके हमें स्मरण ख्याल आ जाता है जो शब्द का ख्याल आ जाता है ये चिन्ह है ये शब्द नहीं है जिसको हम ग्रंथ बोलते हैं हमने गुथा है हमने टाइपिंग किया जो भी किया हमने किया ये वेद नहीं होते वेद होते हैं शब्द राशि ये तो एक इसको देखने से उसका ज्ञान हो जाता है शब्द स्फुरित हो जाता है स्थिति यह है तो वेदांत कृत का अर्थ करते हैं ठीक है हम कहते हैं वेदांता नाम पौरुषत्व पर रहते कहते हैं वेदांत फिर पौरुष हो जाएगा उपनिषद पौरुष हो जाएंगे वेद पुरुष के द्वारा प्रणित होगा तो पौरुषय ग्रंथ पर दो दोष की शंका आ जाती है विप्रलम्बकत्व भ्रांतत्व कोई तो नहीं था ये ये लिखने वाला किसी पुरुष के द्वारा प्रणित किया होगा एक शंका आ जाती है कोई ठग तो नहीं है अथवा पागल तो नहीं है तो दोषों की शंका है तो शंका आएगी तो फिर यथार्थ वक्ता कौन होगा देखना पड़ेगा शंका आ जाती तो सभी झूठ बोलने वाले सब नहीं ठग भी नहीं है भ्रांत भी नहीं वहां पर बहुत विचार के बाद ही पता लगेगा विप्रलम्बक है या भ्रांत है नहीं किंतु वेद को वहां कोई वो नहीं होगा क्यों अनादि अपुर से उसको किसी ठगने की जरूरत नहीं है तो मठ मंदिर आदि चलाना क्यों ठगेगा वो पागल भी नहीं वो इसलिए वो जो बोले सत्य मान के चलते हैं लोग ये कहना है वेदांत आना पौरुषों परिषद का वेदांत उपनिषद के पौरुषे न हो जाए इसका खंडन करते हैं वेद इत्यादि वेद वेदविद का अर्थ किया वेदार्थविद एवं हम कहा वेद के अर्थ को जानने वाला मैं हूं यह अर्थ है वेद को जानने वाला नहीं वेद के अर्थ क्या है मुख्य बात जानने वाला मैं होता स्थिति का आगे तदर्थ संप्रदाय प्रवर्तकत्वार्थम तदर्थ यथात्म ज्ञानवत्व वेदार्थ वेदार्थ विदेव चाहूंगा वेदांत कृत का था वेदांत संप्रदाय कृत कह दिया था वेदांत कृत का था वेदांत के जो परंपरा चलाने वाले लोग हैं उपनिषदों के परंपरा चलाने वाले आचार्य हैं उनको बनाने वाला मैं हूं उन आचार्यों को कहा मैंने व्यास आदि ग्रुप में जो चलाया उनको और वेदविद का अर्थ करते हैं वेदार्थविद ये अर्थ करते हैं वेदार्थविद का अर्थ कर रहा है तदर्थ संप्रदाय प्रवर्तक वेद के जो अर्थ है उसके अर्थ के जो परंपरा चलाने प्रवर्तक आचार्य के लिए तदर्थ यथार्थ यथार्थ तथ्य ज्ञान हूं वेद का अर्थ का यथार्थता ज्ञान देने वाला मैं हूं ये कहना चाहते हैं कहा उत्तर श्लोक आराम अब आगे कुछ श्लोक पड़े हैं मैं चार श्लोक और हैं अभी उसके अर्थ बता दो उत्तर श्लोक आना आगे के जो चार श्लोक हैं तात्पर्य वक्तुम तात्पर्य किसमें तात्पर्य इन श्लोकों का आगे आने वाले श्लोकों का भक्तुम वृत्तम के पूर्व की बात कथन करते हैं भगवान भगवता इत्यादि कहा भगवता ईश्वर से नारायणाख्य भगवान जो ईश्वर है जिसको नारायण कहते हैं नारायण जीवा तेसाम अयनम नारायण नर शब्द का जीव है इनका परम गति जो होता है मान जैसे जल का परम गति क्या समुद्र वैसे इनके परम गति जीवों का चाहे कहीं से भी चले चले चले अंतिम वही पहुंच रहा होता है स्थिति ऐसी है तो नरोगा अयन मन स्थान जो गति परम गति उसको नारायण कहा जाता है जीवों का अंतिम विश्राम वही होना है ईश्वर से नारायण जिसका नाम नारायण कहते हैं ईश्वर है जो उनका विभूति संक्षेप होता सामान्य विभूति बताए थे चार श्लोकों से कहा जाए चार श्लोकों से विभूति बता दी यदादित्य कदम तेजस लेकर के सर्वस्व चाह मृदय विष्णु तक चार श्लोकों से विभूति संक्षेप से कहा विशिष्ट उपाधि कृत ये विभूति विशिष्ट उपाधि को लेकर कहा स्वतः परमात्मा स्वरूप का वर्णन नहीं किया तत्त उपाधि विशिष्ट रूप से कहा प्राणी के हृदय प्राणी विशिष्ट करके कहा आदित्यादि विशिष्ट करके कहा यदादित्य तेजो स्वतः भगवत स्वरूप का निरूपण विशिष्ट करके कहा तत्त विशिष्ट आदित्य विशिष्ट चंद्रमा विशिष्ट अग्नि विशिष्ट इत्यादि करके कहा है विशिष्ट विशिष्ट बनाकर बोला निरुपाधिक स्वरूप का वर्णन नहीं किया इस तरह श्लोक में ये कहते हैं विशिष्ट उपाधि कर तो यदादित्य कदम तेजा इत्यादि ने चार श्लोकों से बताया विशिष्ट उपाधि के माध्यम से बताया आदित्य विशिष्ट करके भगवान का नाम लिया है स्वरूप बताया स्वतः भगवान का स्वरूप नहीं बताया उपाधि रहित करके नहीं बताया चारों श्लोक में ऐसी स्थिति है हम वैश्वान और भूत्व आदि का मनुष्य प्राणी विशिष्ट करके कहा वहां भी सर्वथ चाह मृत्यु सब प्राणी के हृदय में रहने वाले विशिष्ट करके कहा गामा विषय भूतानी उस श्लोक में कहा पृथ्वी के भीतर रहता हूं पृथ्वी विशिष्ट करके कहा चारों विशिष्ट करके कहा हुआ है द्रुपाधिक स्वरूप का प्रण नहीं हुआ ये कह रहे भगवत ईश्वर से नारायणाक्ष से विभूति संक्षेप उक्त संक्षेप से विभूति कही गई विशिष्ट उपाधि कृत तो विशिष्ट उपाधि के द्वारा बढ़ाई हुई विभूति बताई गई है कहां से कहां तक कहा तेज है यहां से आरंभ करके कहा अभी तक अथा अच्छा, अधुना अब ये आगे क्या बोलना चाहते हैं अधुना मैंने अब इधानी अब तस्व क्षराक्षर उपाधि प्रवृत्त या निरुपाधि कैसे केवल से स्वरूप दीर्घारिषाया उत्तर श्लोक थे क्षर अक्षर उपाधि के विभक्त रूप से बताएंगे क्षर और अक्षर दो पुरुष के वर्णन करेंगे उपाधि विशिष्ट करके और निरुपाधिक ऐसे केवल से ये दोनों से अतिरिक्त जो निरुपाधिक होगा केवल निरुपाधिक परमात्मा है उसका स्वरूप निर्धार ऐसा अक्षर और अक्षर क्यों करना हुआ वो तीसरे को निर्धारण करने के लिए निरुपाधिक में जाने के लिए सोपाधिक एक साधन बन जाते हैं इसके लिए है उसके स्वरूप का निर्धारण कर जो निरुपाधिक का ही है उसका स्वरूप का निर्धारण करने के लिए इच्छा से उत्तर श्लोक है आगे के जो चार श्लोक है उसका आरम्भ किए जाते हैं ये कहा तत्र सर्वमेव अतीत अनागत अध्यायार्थ जातम त्रिधा राशि कृत्या अब इस गीता में जो पूर्व में जितने कहे गए थे द्वितीय अध्याय से लेकर के अब तक जो कहा और आगे सोलहवें अध्याय से लेकर के अष्टादश अध्याय जो कुछ कहेंगे पूर्व में कहा पर में कहने वाले हैं सबके ये तीन राशियों में समापन होगा क्षर अक्षर और उत्तम पुरुष क्षर पुरुष अक्षर पुरुष उत्तम पुरुष संपूर्ण गीता में जो पूर्व में कहा द्वितीय अध्याय से लेकर अब तक जो कुछ कहा और आगे सोलह अध्याय से लेकर के अष्टादश अध्याय तक जो कुछ कहने वाले हैं सबका तात्पर्य तीनों में घट जाता है क्षर और अक्षर और उत्तम तीन पुरुष की चर्चा में घटना है देखा तत्र उस स्थिति में सर्वमेव सर्वमेव अतीत अनागत अतीत हो गए पहले वाले अभी तक जो कुछ कहा गीता में और अनागत है आगे आने वाले जो सोलहवें से लेकर अष्टादश तक हैं इतने अध्याय के जो अर्थमान विषय वर्ग हैं जितने भी विषय हैं त्रिधार आशीकृत उसको सारे के साथ तीन ढेर करके बताते तीन है भाई सारा संपूर्ण परमात्मा संसार संसार के कारण तीन राशि एक तो संसार है कार्य वर्ग एक कारण वर्ग और एक कार्य कारण से रहित परमात्मा तीन तीन ही राशि में तीन ग्रुप है तीन ही समूह में पड़े हैं ये कहना है ये आगे कहे जाने ये चार श्लोक उसी तीन वस्तु को बताएंगे संपूर्ण गीता के अर्थ विषय होगा ये तीन चार श्लोकों के द्वारा निष्पन्न हो जाएगा समझदार के लिए कहना है ठीक है हम कहते हैं विशिष्ट उपाधि कौन है विशिष्ट उपाधि के माध्यम से बताए चार श्लोकों के द्वारा शुद्ध स्वरूप का वर्णन नहीं हुआ तो विशिष्ट उपाधि का आदित्य आदि जो आदित्य आदि कहा यदा आदित्य गतम तेजो जगत भाषा तो आदि से कहा हुआ है आदित्य विशिष्ट पर स्वरूप का वर्णन हुआ शुद्ध स्वरूप का वर्णन नहीं हुआ इत्यादि संप्रति अब आध्याय समाप्त है अब ये गीता के अध्याय की इस अध्याय की समाप्ति तक पंचदश अध्याय की समाप्ति तक हा मैंने यहां किसमें अभिविधि पे इस अध्याय की समाप्ति तक आंग लगा हुआ है आ अध्याय समाप्त है आंग अभिविधि अर्थ में अध्याय की समाप्ति तक चार श्लोक है गीता शास्त्रार्थ से निर्णयार्थमा गीता के शास्त्र के अर्थ पूर्व में कहे गए गीता शास्त्र का अर्थ आगे आने वाले गीता के शास्त्र का अर्थ है ये सब का निर्णय करने के लिए कहते हैं चार श्लोक में निर्णय हो जाएगा हम्म। पूरे गीता के शास्त्र का अर्थ तीन तो एक तो संसार है कार्य वर्ग है एक संसार के कारण और माया विशिष्ट चेतन बोलते हैं जो भी बोलते हैं अरे ये दोनों से रहित कार्य कारण भाव से रहित तीन ही होते हैं इसलिए तीन पुरुष पुरुष नाम से देंगे तीन पुरुष नाम के चर्चा करेंगे कहा क्षराक्षर उपाधि में दो तो उपाधि विशिष्ट पुरुष का चर्चा होगी किसमें क्षर और अक्षर लगा के बोलेंगे नाश क्षर बने नाश और एक अक्षर बने ज्ञान के बिना नाश नहीं होता अक्षर कहा जाता है परमात्मा जा यज्ञ परमात्मा रूप से वर्णन करेंगे उत्तम पुरुष स्तन्य परमात्मा उत्तुल्लाहित इत्यादि परमात्मा से वर्णन करेंगे परमात्मा जा राशि त्रय उक्तेव तीन राशि के द्वारा कथन के द्वारा तीन ढेर तीन भाग चाहिए है तीन भाग के द्वारा होते ना सर्वात्मत्व ना सर्वरूप हो जाते परमात्मा तीन राशि में है परमात्मा क्षर रूप में है अक्षर रूप में है परमात्मा रूप में है उत्तम पुरुष रूप में कहा तो ना अशुद्ध्यादि दोष प्रसाद प्रसप्त उत्तम कहते हैं अशुद्ध्यादि आ जाएगी फिर परमात्मा में क्षर भी वही है विशिष्ट रूप से क्षर वही बना हुआ है विशिष्ट रूप से अक्षर भी वही बना हुआ है शुद्ध भी है तो क्या अशुद्ध आदि दोष आएगा फिर उसमें संसार में तो है ही है शर माने तो संसार है कार्य वर्ग जितने हैं माया का कार्य जितने बोलते हैं शर में आते हैं कुटस्थ माया बोलते हैं उसको अक्षर शब्द से बोलना है यहाँ तो वो तो दोष युक्त हैं दोष वाले हैं वो दोष जिस परमात्मा ही बना है तो परमात्मा दोषी हो जाएगा शंका आने पर नहीं नहीं ये दो पुरुष हैं जो दोष युक्त ये कहना चाहते हैं द्वाभिमो इत्यादि से उसे कहना चाहते हैं श्लोक है द्वाभिमो पुरुष अवलोके क्षरश्चाक्षर वच क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते स्वाभिमो पुरुष अवलोके क्षरश्चाक्षर वच क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते इमौ दौ पुरुषौ ये दो पुरुष हैं लोके संसार में संसार में दो पुरुष है क्षर पुरुष अक्षर पुरुष परमात्मा संसार से बाहर लोके माने संसार है ये संसार में दो पुरुष है कहते हैं विभव पुरुष लोके लोके माने इस संसार में लोके इस संसार में दो विभव पुरुष ये दो पुरुष हैं क्षरस्ताक्षर तो उनका नाम है एक क्षर तो पुरुष एक अक्षर पुरुष के नाम है संसारी जो लोग पुरुष हैं वो दो पुरुष हैं क्षर मान कार्य वर्ग जितने में नाशवान पदार्थ को क्षर कहते हैं और कारण को अक्षर शब्द से कहा जाता है संसार के जो कारण अक्षर शब्द कहा जाता है छह सर्वाण भूतानी का संपूर्ण भूत जितने भी क्षर है नाशवान कार्य वर्ग है और कूटस्थोक्षर उच्च थे जो कूट के समान रहने वाला माने माया अनाज काली जो माया है उसको अक्षर शब्द से कहा जाता है ठीक है भाषा आभ्याम क्षराक्षर द्वादेव ये दो पुरुष कहते हैं पृथक राशि कृत हो कि दो पुरुष को अलग ढेर बना दिया दो ढेर बनाया हुआ है दो ढेर है एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष राशि माने ढेर होता है समूह होता है पुरुषो इसको पुरुष कहा जाता है लोके मान संसार है संसार में दो पुरुष है एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष और जो तीसरा होगा वो संसार में नहीं हो उत्तम पुरुष इससे भिन्न है संसार अलग है अलौकिक है वो लौकिक नहीं है तो दो पुरुष कौन तो कहते हैं लोके संसार है क्षरस्व माने क्षरते भी क्षर क्षर धातु विनाश अर्थ में होता है तो क्षर धातु है क्षरते थी क्षर नाश होता है इसलिए क्षर कहा जाता है इसको क्षर विनाशी यही है क्षर का अर्थ विनाशी एको राशि एक घर यही है संसार में जितने विनाशी वर्ग है नाशवान है कार्य वर्ग है कार्य वर्ग नाश होता है यह है क्षर कहा जाता है राशि अपरा पुरुष अक्षर दूसरा जो पुरुष है अक्षर पुरुष है तद विपरीत है विनाशी से विपरीत है अविनाशी कहते हैं अविनाशी तो नहीं होगी जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक उसके सत्ता है इसलिए उसको अविनाशी शब्द से कहा कौन प्रयोग है मुख्य नहीं है मुख्य अविनाशी तो आत्मा ही होता है उत्तम पुरुष ही होता है आत्मज्ञान जब तक नहीं है अनादिकाल से हम कब से भटके हैं अभी तक आत्मज्ञान नहीं हुआ इसलिए उसको क्या कहा अक्षर शब्द से बोल दिया आत्मज्ञान से जिसका नाश होगा स्थिति है क्षर क्षर पुरुष के नाश के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता नहीं है प्रतिदिन माने सुसुप्ति में नाश हो जाता है कार्य वर्ग कोई रहता नहीं हमारे सामने जो सुसुप्ति अवस्था में पहुंचा है उसके सामने जगत है क्या नहीं किंतु तो जगत का कारण है वहां न किंचित अवेदिशम बोलता है उठने के बाद अज्ञान तो था वहां उठने के बाद बोलता है न किंचित अवेदिशम ऐसा बोलता है मैंने कुछ भी नहीं जाना नहीं जाना मैंने अज्ञान को जाना वहां किसको जाना साक्षी भाव से अज्ञान को समझ के आया है वह तब तो परामर्श कर रहा जागृत माने बात अज्ञान है वह तो क्षर पुरुष जैसे सुसुप्त में नाश है प्रतिदिन है ऐसी स्थिति है ब्रह्मा जी के एक दिन पूरा होता नाश हो जाता है क्षर पुरुष का नाश होगा किसका होगा क्षर पुरुष का अरे ब्रह्मा जी के आयु पूरी होने पर नाश होगा वो भी क्षर पुरुष का नाश है माया का नाश तो नहीं है स्थिति है स्थिति और माया का जो नाश होगा अक्षर पुरुषार्थ आत्मज्ञान से होगा प्राकृतिक आत्यंतिक नाश होना है ज्ञान के द्वारा नाश आत्यंतिक नाश तभी होगा कहना है तो क्षर पुरुष का यह अर्थ है दो विभव कहा पृथक भिन्न भिन्न है दो पुरुष है यहां पृथक राशि के तो भिन्न भिन्न समूह बनाया एक क्षर एक अक्षर ये दो हैं पुरुष अवित तो उच्चते पुरुष शब्द से कहा जाता है लोके संसार का क्षर क्षरती क्षर ये अर्थ है विग्रह ये नाश होता है इसे क्षर कहा जाता है इसको विनाशी है एको एको राशि एक प्रमोद ए है क्षर पुरुष है कार्य वर्ग जितने भी है संसार में अपर पुरुष अपर पुरुष का उन्हें अक्षर है उसको अक्षर कहा तद विपरीत विनाशी नहीं है जो अक्षर तद विपरीत बोल दिया भगवतो माया शक्ति जिसको भगवान की माया शक्ति बोलते हैं जिस माया से जगत रचना करते भगवान बोलते हैं मान विशिष्ट अवस्था है यह ईश्वर भाव है भगवतो माया शक्ति ही क्षराख्य से पुरुष से उत्पत्ति बीजम माया शक्ति कैसे क्षर नामक पुरुष के उत्पत्ति का बीज है वो माया बीज है संसार के बीज कौन है माया हम्म। तो क्षर नाम जो पुरुष है उसका उत्पत्ति का बीज कारण है जो भगवान की माया शक्ति है उसको अक्षर कहा जाता है अक्षर पुरुष कहा जाता है अनेक संसारी जंतु काम कर्म कर्मादि संस्कार आश्रय वो जो माया शक्ति कैसी है अनेक प्राणी होते हैं कितने होते हैं जंतु तो? चौरासी लाख योनिया एक एक योनी है वो चौरासी लाख एक एक योनी में जाने कितने करोड़ों असंख्य जीव पड़े हुए हैं अनेक योनी में एक मनुष्य होनी है मनुष्य होनी में कितने जीव होंगे गिन नहीं सकते यही जो देखे दो तो चार ही नहीं है पूरी धरती पर फैले हुए कहा तक है पता नहीं असंख्य है जहां भी जाएंगे किसी भी योनि में जाएंगे कारण योनि माने कारण असंख्य जीवी पाए जाएंगे गिनना संभव नहीं है तो ये कहते हैं उत्पत्ति बीज कैसा है माया शक्ति कैसी है अनेक संसारी जंतु अनेक प्रकार से संसार में घूमने वाला जो छेर जंतु है ना नाशवान जंतु जितने भी जीव जिसको बोलते हैं जंतु उन जंतुओं का काम करवा के संस्कार मैंने अज्ञान है अज्ञान के द्वारा इच्छा होती है विषयों की इच्छा होती है विषयों की इच्छा होने पर उसका अनुकूल व्यापार करता कर्म करता है उसको फल फल के लिए तो संसार स्वरूप अज्ञान काम कर्म ये तीन रूप में बताया जाता है अज्ञान है अज्ञान के कारण इच्छा हो जाती है स्वर्ग आदि प्राप्ति की इच्छा जो पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा जैसी जैसी इच्छा होगी फिर उसके अनुरूप कर्म करेगा तो अज्ञान और काम और कर्म संसार का तीन स्वरूप बताते हैं तो जो अज्ञान है संसार जितने भी संसारी जंतु हैं जीव हैं उनके काम कर्म आदि संस्कार काम कर्म और संस्कार उसके संस्कार रहेंगे फिर का काम इच्छा होगी फिर कर्म करेगा इत्यादि जैसे काल भोजन किया है तो उसके द्वारा उसका आस्वादन मिला स्वाद मिला तो फिर क्या करेगा सायकाल के लिए कर्म करने लग जाएगा उसका संस्कार है कर्म करेगा कर्म करेगा खाएगा पीएगा फिर संस्कार बनेगा फिर इच्छा होगी खाने की फिर दूसरे दिन पकाने लग जाएगा यही चलता रहता है संसार में घूमने वाला अनादि अज्ञान है अज्ञान के कारण विषयों की इच्छा विषयों की इच्छा से तद अनुकूल कर्म उसकी प्राप्ति के लिए कर्म फिर उसका संस्कार फिर वही चलना है तो यही वो बीज कैसा है संसार का बीज भगवान भगवतो माया शक्ति कहा था वो कैसा है छह नाम पुरुष का उत्पत्ति बीज है जो कार्य वर्ग है जितने उसके उत्पत्ति कारण है और अनेक संसारी जो जंतु हैं सबके काम कर्म आदि संस्कार काम कर्म संस्कार इच्छा है उसके द्वारा कर्म होना कर्म के अनुसार कर्म के आधार संस्कार बनना इसके आश्रय वो माया शक्ति अक्षर यदि पुरुष अक्षर पुरुष ही है उसको अक्षर पुरुष कहा जाता है यही है दो पुरुष हैं क्षर पुरुष अक्षर पुरुष कार्य वर्ग जितने भी हैं सब क्षर पुरुष और इसके जो कारण है माया शक्ति बोलते हैं वो अक्षर पुरुष कौतव पुरुष हो वो दो पुरुष कौन है पुरुष हो जाता उठा है कौतुक पुरुष क्या भगवान स्वयं कहते हैं स्वयं भगवान आह स्वयं भगवान बताते हो क्षरस्ता अक्षर है वजह शब्द से किस शब्द से क्षरस्ता अक्षर है वजह एक क्षर है अक्षर है भगवान अपने शब्द से बताते हैं एक क्षर है एक अक्षर है ये दो पुरुष कौन है तो कहा क्षर और अक्षर अक्षर सर्वाणी भूतानी समस्त विकार जाता नहीं थे क्षर सर्वाणी भूतानी कहा था क्षर कौन है संपूर्ण भूत भवंती भूतान जितने होने वाले कौन कार्य वर्ग जितने हैं सब क्षर शब्द से कहा जाता है पुरुष कहे जाते हैं कहा सर्वाणी भूतानी क्षर यही क्षर यही है जितने होने वाले जितने हैं कार्य वर्ग भूतानी समस्तम विकार जाते में जितने विकार वर्ग है ना कार्य वर्ग जितने क्षर शब्द से कहा जाता है पूरे संसार और परमात्मा के तत्व संसार के कारण तीन भाग को जय जाना तो सबको जान गए सबको जान लिया होता उसका ये तीन ही तो है कौन है संसार कार्य वर्ग है उसका कारण माया है और फिर कार्य कारण भाव सहित परमात्मा आत्मा है ये तीन को जानने वाला सर्वज्ञ है सर्ववेत्ता है ऐसी स्थिति है सर्वाणी भूतानि मैंने समस्त विकार जातम बोलते हैं संपूर्ण विकार मैंने कार्य वर्ग होते हैं सबको अक्षर अक्षर पुरुष कहा जाता है क्षरा सर्वाणी भूतानि कहा हुआ है कूटस्थ तो अक्षर उच्चते कहा हुआ है श्लोक में भगवान ने कहा कूटस्थ जो है ना अक्षर कूटस्थ मैंने कूट राशि कूट मैंने मैं ये जो इनका ढेर है कार्य वर्ग का ढेर है समूह है कारण में छिपा हुआ होता है जैसे इतना बड़ा वृक्ष बना किसमें किसका किसमें फैला हुआ है बीज में है ढेर है सारा वृक्ष बनना उसी में है कुटकार राशि ढेर राशि निवस्थित है जैसे ढेर होता है ना ढेर को राशि बोलते हैं संस्कृत उसके समान भाई वो अनंत जीवों की राशि है ढेर कार्य वर्ग शरीर आदि के समूह है वो कौन माया शक्ति बीज रूप में है क्षर पुरुष का अर्थ अथवा अथवा कूटस्थ का अर्थ कूट माने क्या करना अर्थ कूटो माया वंचना जिम्मता कुटिलता इति पर्याय कुट शब्द का अर्थ होता है माया बोलते हैं वंचना ठगना माया वंचना अच्छा जिम्मता कुटिलता इत्यादि ये पर्यायवाचक शब्द है चाहे उसको कूट बोलो चाहे वंचना बोलो चाहे जिम्मता बोलो चाहे कुटिलता बोलो पर्यायवाचक शब्द है कूट का अर्थ अनेक मायादि प्रकार से स्थित अनेक प्रकार से स्थित है वो वो माया अनेक प्रकार से कितने कहते जीव जंतु सब माया रूप से पैदा हुए हैं सब अनेक मायादि प्रकार कुटस्थ अनेक मायादि प्रकार से स्थित होगा उसको कुटस्थ कहा जाता है अनेक रूप से रहने कुटस्थ कहा जाता है संसार बीज अनंत्यात न अक्षर अक्षर कहा संसार के बीज की अनंतता है कब से शुरू हुई है कब तक गए कोई पता नहीं है संसार जो माया है संसार तो प्रतिदिन नाश होता है सुसुप्ति अवस्था में गया संसार समाप्त कोई कार्य वर्ग नहीं रहता उस काल में ये शरीर भी नहीं है इंद्रिया नहीं कोई भी काम नहीं करते कोई होते नहीं वहां हम अकेले होते हैं क्योंकि अज्ञान के साथ होते हैं सुसुप्ति में हम अपने रूप में जाते तो हैं किंतु एक पर्दा बीच में डाल देते हैं कपड़ा डाल देते हैं पतली सी चद्दर है वहां माया नामक चद्दर डाल के सो जाते हैं वो चद्दर हटाए तो फिर अद्वैत अवस्था में पहुंच जाते हैं वो चद्दर नहीं हटा पाते एक चद्दर ओढ़ लेते हैं तो इसमें अंतर होता है ऐसी स्थिति है अनेक मायादि प्रकार से तो कुटस्थ कहा अनेक प्रकार के मायादि प्रकार से रहने के कारण उसको कुट कहा संसार बीज संसार के बीज अनंत है अनंत है अंत नहीं हो पा रहा है उसका ज्ञान के बिना इसलिए नक्ष रहते अक्षर इसलिए नाश नहीं हो पा रहा है प्रतिदिन सुसुप्ति में चला जाता है सभी प्राणी मात्र का और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है स्वाभाविक रूप से संसार गायब होता है प्राणी मात्र का हो जाता है किंतु उसका बीज नाश नहीं होता बीज है इसलिए फिर कुछ काल के बाद फिर जागृत में आ जाता है फिर संसार पैदा हो जाता है स्थिति ऐसी है इसलिए नक्षत्र उसका नाश नहीं काल का नाश नहीं हो रहा है अनंत होने के कारण इसलिए नक्षर अक्षर बोलते उसका नाश नहीं होता अक्षर से होते कहा माया को कहा ये कहना कहते हैं टीका में है पुरुष उपाधित्व पुरुषत्व पुरुष उपाधि है इसकी इसलिए पुरुष कहा गया न साक्षात साक्षात पुरुष तो नहीं है कार्य वर्ग भी साक्षात पुरुष नहीं है और कारण भी नहीं है पुरुष उपाधि वाला होने से इसको पुरुष कहा गया कहा गौण है प्रयोग पुरुष का ना गौण है पुरुष कहा हुआ है इसका अर्थ किया उच्चते कहा गया है परम पुरुषम है यहां पुरुष शब्द का परम पुरुष परमात्मा नहीं लेना निर्विशेष आत्मा को नहीं लेना ये कहते भगवता माया करके बोलते कौन है दो पुरुष हम्म। बीच गाय भगवान की माया है परम पुरुष नहीं है ये अक्षर शब्द के द्वारा परम पुरुष नहीं लेना तत्र कार्य लेखा तुम अनुमान हुआ माया है कैसे पता लगता कैसे मालूम पड़ा प्रत्यक्ष होना है कोई साड़ी पहनी हुई महिला के रूप में दिखने नहीं उसको कैसे पता लगता है माया है उसके कार्य को लेकर काल का अनुमान होता है जैसे दूर देश में धुआं दिखाई दिया तो अग्नि का ज्ञान हो जाता है क्यों अग्नि का कार्य है तो अग्नि न होने पर धूम नहीं होता धूम है तो जरूर अग्नि है ज्ञान हो जाता है अनुमान माया भी अनुमान से सीखता है प्रत्यक्ष नहीं है अनुमेय पदार्थ है अनुमान से तो इतना बड़ा जगत उसका पसारा है तो वो जरूर है जैसे अग्नि के बिना धूम नहीं हो सकता तो बीज के बिना संसार नहीं होता बीज है जो संसार का बीज है उसको माया बोलते हैं यही है ये कहा तत्र उस स्थिति में कार्य लिंग का अनुमान सोचेगा कार्य हेतु है माया का कार्य लिंग मान हेतु उसके द्वारा सूचित करते हैं माया है करके कहा क्षराक्षस्य इत्यादि शब्द कहा था क्षराक्षस्य पुरुष से उत्पत्ति बीजम कहा जो क्षरनामक पुरुष है ना कार्य वर्ग जितने हैं उसके उत्पत्ति का बीज है कौन है तो माया तो भगवतो माया करके धान जिसका वही है अक्षर माया शक्ति बिना भोक्तृणाम कर्मादि संस्कारात एवं उक्त कार्योत्पत्ति आशंक तस् निमित्तत्व भी माया शक्ति उपादान विधि मत्वा शंका आ जाती है कि माया शक्ति के बिना ही जो भगवान की शक्ति है माया है उसके बिना ही भोक्तृणाम काम कर्मादि काम कर्मादि संस्कार भोक्ताओं के कर्मों का संस्कार है पूर्वजनों कर्म किया उसका संस्कार है उसके आधार पर जगत हो जाएगा माया के बिना जगत बन जाएगा क्यों पूर्व में जो भोक्ता थे जीव जीव जीव थे कर्म किया था अभी भोक्ता बनना है उनके उनका संस्कार है भक्ति वर्ग जितने हैं भोक्ता वर्ग के संस्कार के माध्यम से कर्मादि के संस्कार के माध्यम के कारण जगत की उत्पत्ति हो जाएगी ये शंका है उत्तकारी उत्पत्ति में जो क्षण नामक कार्य उत्पन्न हो जाएगा उनके भोक्ताओं के संस्कार कर्मादि के संस्कार के बल पर हो जाएगा माया को मानने की जरूरत नहीं ऐसे शंका की शंका आ गई तो उत्तर देते हैं तस्य निमित्तत्व कर्म निमित्त है कर्म के संस्कार निमित्त है पूर्व जन्म किए हुए कर्म का संस्कार निमित्त बने हैं निमित्त होने पर भी माया संयुक्त उपादानम उन कर्मों का उपादान कारण क्या है माया अज्ञान होने से इच्छा होगी विषयों की इच्छा विषयों की इच्छा होने से कर्म करता है तो कर्म कारण माया है माया सच उपादान कारण है जैसे घट बनने के लिए निमित्त कारण भले कुलाल आदि हों कुमार आदि हों किंतु तो उपादान कारण मृत्यु क्या है ठीक इसी प्रकार कर्म के जो संस्कार होता है भोक्ताओं के कर्म का संस्कार निमित्त कारण जरूर है अपने अपने कर्म के आधार पर संसार भिन्न भिन्न संस्कार पैदा होना उनको अपने दृष्टि से देखना अपने दृष्टि से चलना हाँ कोई काड़ा होकर निकलना कोई बहरा होकर निकलना कोई सचक्षु होना कोई अचक्षु होना अपने कर्मों का निमित्त बने हुए हैं तो बनाने वाली कारण तो क्या माया ही है उपादान कारण वही है मटेरियल वही है ये कहना है अनेक इत्यादि शब्द का आदेश कहा था अनेक संसार संसारी जंतु जो संसार में भ्रमण करने वाले जंतु है ना जीव इनका काम कर्मादि संस्कार आश्रय काम कर्मादि के संस्कार का आश्रय है काम कर्म संस्कार उसके आश्रय ही है इच्छा हो गई अज्ञान के कारण इच्छा होने से कर्म किया कर्म के आगे संस्कार बना फिर उसी प्रकार संस्कार याद हो कर्म ये चलता रहता है इनका इनका आश्रय वो माया है काम कर्मादि आदि शब्द है ना ज्ञान गृहते कान कर्म और आदि से क्या लाना ज्ञान उपासना ये भी है जैसे जैसे चिंतन आ गया गति भी ऐसी होगी यथा कर्म यथा बोलते हैं जैसा कर्म होगा जैसे उपासना होगी चिंतन उसके आधार पर आगे गति है ये भी कहना है प्रकृतिम पुरुषम चाहे विद्यनादि वापी विकाराश गुणाश सर्वान विद्धि प्रकृति संभवान त्रयोदश अध्याय बोल के आए थे प्रकृति पुरुष दोनों अनादि है कहा था वहां प्रकृति पुरुष विद्धि अनादि वह अपनी है दोनों दोनों अनादि है इनके कारण नहीं पाए जाते हैं अनादि किंतु विकाराश गुणा सैवन जितने भी विकार है ना सब प्रकृति से उत्पन्न है कार्य वर्ग जितने वो प्रकृति से उत्पन्न है ऐसा कहा था त्रयोदश अध्याय प्रकृत और त्रयोदश अध्याय में जो प्रकृत था दोनों को कहा था दोनों को अनादि कहा हुआ था पुरुष को भी और प्रकृति को भी अनादि कहा हुआ है प्रकृत यह ग्रहणम उसी को यह ग्रहण करना है ये कहा इस शंका आकांक्षा द्वारा की है ऐसी शंका उठाएंगे तो उसकी शंका को खंडन करते हैं कहा बारह कौतऊ यह प्रश्न उठाया कौतऊ वो अक्षर पुरुष से कहा कौन है वो ये प्रश्न बहुत पुरुष हो वो दोनों पुरुष कौन है इत्या भगवान स्वयं भगवान भगवान स्वयं कहते हैं क्षरा सा क्षर क्षरा सर्वाणी भूतानी भगवान ही बोलते हैं क्षरा सर्वाणी भूतानी कार्यवर्ग जितने भी हैं भवदित भूतानी होने वाले को कार्यवर्ग होते होने वाले उनको भूत कहा जाता है तो क्षर हैं कहा भगवान ने और कूटस्थ अक्षर उच्च थे अक्षर माया शक्ति भगवान माया शक्ति तो यहां अक्षर सबसे कहा जाता है कहा कूटस्थो क्षर में कूटस्थ का अर्थ भी कर दिया कूटस्थ माने कूट माने क्या कूट में स्थित होता है कूट माने माया वंचना जीवता कुटिलता इत्यादि अर्थ किया है कूट शब्दार्थ उक्ता तेन स्थित कूटस्थता मान कूट शब्द का अर्थ माया है और वंचना है ठगना है जिम्मता है कुटिलता है इत्यादि है तो उसमें स्थित को कुटस्थ कहा हुआ अक्षर पुरुष में ईश्वर शब्द से कहा माया विष्णु को कुटस्थ शब्द से कहना है कुटस्थ अक्षर उच्च से कहना है ठुकाने पर कहते हैं <clears throat> कुटता देश सपिन्नतम अर्थवा कुटस्थ शब्द का अर्थ मिले हुए अर्थ कहते हैं अनेक इत्यादि कहा है यही है अनेक संसारी जंतु काम कर्माद संस्कार आश्रय इत्यादि कहा गया है हम्म। अनेक प्रकार के जो जीव हैं उनके काम कर्म संस्कार का आश्रय है उसे कुटस्थ कहा जाता है माने कारण जो होगा ना संसार कारण केवल जड़ से भी संसार होना संभव नहीं है क्यों संसार बनाने की जो चेतना शक्ति चाहिए जिसमें ऐसा ऐसा बना नक्शा बनाने वाला व्यक्ति चाहिए वो चेतन होता वह नक्शा पास बनाने वाला बनने वाला होता है जड़ पदार्थ माया वो बनाने वाला चेतन है वहां दोनों मिलकर बना हुआ होता है तो कभी कभी माया से संसार की रचना बोलते हैं कभी ईश्वर से संसार की रचना बोलते हैं जो तो प्रधानता को देकर के वहां प्रधानता देखने होगी कभी माया को प्रधान दिया है ईश्वर को चेतन को प्रधान दिया है दोनों मिलकर काम होता है यानी देखो मैंने मृत शरीर में कार्य नहीं होगा किंतु कार्य शरीर में होता है मैंने चेतन विशिष्ट शरीर में काम होता है कोई भी कार्य करना हो लेन देन करना हो चलना फिरना कुछ भी हो चेतन विशिष्ट होगा जड़ क्रिया जड़ में होती है <clears throat> किंतु चेतन विशिष्ट हुए बिना नहीं हो सकती है क्रिया तो दोनों मिलकर ही होता है काम इस प्रकार यहां भी आदि काल में वैसे ही है माया माया चेतन जिसको बोलते हैं ईश्वर जिसको बोलते हैं उसको कुटस्थ कहा जाता है ये कहना कुट को कुटस्थ कहा तस् कथम अक्षर तुम उस कुटस्थ को अक्षर क्यों कहा अक्षर तो अविनाशी को कहना अविनाश तो परमात्मा होगा तो कुटस्थ तो माया शक्ति विशिष्ट तो, तो अक्षर तो नहीं हो विनाशी होगी तो कैसे कुटस्थ का प्रश्न उठा तो उत्तर बिना ब्रह्म ज्ञान अनाशाद यही कारण है बिना ब्रह्म ज्ञान के नाश न होने से उसको कुटस्थ बोला प्रश्न है इतना तस् कथम अक्षरत्व इतना प्रश्न है उसमें अक्षरत्व तो कैसे आया वो जगत के बीज में तो उत्तर दिया बिना ब्रह्म ज्ञान अनासाद ब्रह्म ज्ञान के बिना नाश नहीं होता इसलिए कुटस्थ कहा अक्षर कहा इसलिए अक्षर कहा उसको ब्रह्म ज्ञान से तो नाश होगा क्योंकि वेदांत में छह पदार्थ होते हैं पांच तो अनादि शांत होते हैं और एक अनादि अनंत होता है ईश जीवो विशुद्धाचित तथा जीवेश विधा अना अज्ञा अविद्या तत्चितर योग षड अस्माकम अनादय अस्माकम वेदांति नाम हम जो वेदांति है ना हमारे अच्छे अनादि पदार्थ है उनमें से छह पांच तो अनादि शांत है आदि नहीं है नाश हो जाता है जैसे नैयायिकों का प्राग अभाव होता है वस्तु पैदा होने से पहले जो अभाव रहता है हम्म, वो अभाव वस्तु बनता है तो वो अभाव नाश होता है तब वस्तु बनता है स्थिति इसी प्रकार अनादि शांत पांच है और एक अनादि अनंत है तो कौन है ईश जीव ईश जीव है अनादि है और ईश ईश्वर भी अनादि है जीव ईशव विशुद्धा जो विशुद्ध चेतन कहा जाता है जिनको निर्विशेष ब्रह्म कहा जाता है वो भी अनादि है ईश जीव विशुद्धाचित तथा जीवेश्वर भिदा जीव और ईश्वर का जो भेद है अभी तक कितने दिनों से उपनिषद पढ़ रहे हैं तुम ब्रह्म होकर के समझा रहे नहीं नहीं मैं तो जीव हूं ये बना हुआ है भेद दिख रहा है जीव ईश्वर का जो भेद है ये अनादि है कब से पड़ा ये अनादि अनादिकाल से है मैं ईश्वर नहीं हूं यह बुद्धि सबके पास पड़ी हुई है अज्ञान दशा साथ ईश जीव विशुद्धाचित तथा जीवे सगृभिधा इस प्रकार जीव और ईश्वर का भेद अविद्या अज्ञान भी अनादि है कब से अज्ञान मैं तब तक जानता था अब नहीं जानता हूं कब बोल सकता कोई नहीं बोल सकता मुझे अपना ज्ञान था तब तक अमुक संसंबत तक ज्ञान था अमुक संसंबत में भूल गया अपने को ऐसा बोल सकता कोई नहीं बोल सकता अविद्या तत्चितेर होगा अविद्या का और चेतन का जो संबंध कब से हुआ जो विशिष्ट चेतन बड़ा अविद्या और अविद्या का संबंध योगवान संबंध है मार्ग अनादय हमारे यहाँ वेदांत के यहाँ छह पदार्थ अनादि है कौन कौन है ईश्वर है जीव है विशुद्ध चेतन है और ईश्वर और जीव का भेद है और अविद्या और चेतन के साथ संबंध छह पदार्थ है उनमें से पांच पदार्थ ऐसे हैं अनादि शांत है अनादि है उनका उत्पत्ति का ज्ञान नहीं है किंतु तो निराश हो जाते कम आत्मज्ञान काल में ब्रह्म ज्ञान काल में एक पदार्थ अनादि अनंत है वो विशुद्ध चेतन कौन है वो विशुद्ध चेतन अनादि अनंत है बाकी ईश्वर में जो ईश्वर तो आया जगत के शासन करने शक्ति किसमें आया शक्ति विशिष्ट होने पर ईश्वर तो आया शक्ति माया है शक्ति विशिष्ट उस शुद्ध चेतन में शक्ति विशिष्ट अवस्था को ईश्वर कहा गया सभी काम करता हमारे हाथ में शक्ति जब तक रहे तब तक हम कुछ उठा सकते हैं शक्ति होती है पांच किलो पानी उठाएंगे कुछ उठाएंगे जब हमारे यहां शक्ति निकल जाए शक्ति समाप्त हो जाएगी इसको अर्धांग बोलते हैं काम नहीं करेगा ठीक है ऐसा ही है तो विशुद्ध चेतन अनादि अनंत है जो ब्रह्म ज्ञान बोलते ब्रह्म बोलते हैं जिसको वेदांति लोग ब्रह्म कहते हैं अनादि अनंत वही होता है उसके उत्पत्ति भी नहीं है नाश भी नहीं है बाकी अनादि तो है पांच उत्पत्ति तो नहीं कितना नाश होता जैसे नई आयु को क्या प्रागभाव होता है अनादि है कितना नाश हो जाता है घट का घट बनने के पहले वृत्ति का जो अभाव था किसका घट का कब से था वो नहीं बता सकते अनादि हो किंतु घट बनते समय प्राग अभाव नष्ट होता है तो घट बनता है वह अभाव चला गया भाव आ गया घट आ गया वह अभाव नाश हो गया अनादि होने पर भी नाश होता है जैसे नैयायिक कहोगे गया प्राग अभाव है उसी प्रकार हमारे यहां या अनादि होने पर भी नाशवान है पांच पदार्थ ईश्वर है <coughs> ईश्वर जीव का भेद ये भी है जीव है ईश्वर है जीव है भेद है अविद्या है अविद्या और चेतन का संबंध है ये शांत है नाश है अनादि शांत एक है अनादि अंत ये बोलते हैं या कुट अक्षर शब्द से कैसे बोल दिया प्रश्न तस्य मैंने जो कुटस्थ है कुटस्थ तो अक्षर तो अक्षर कैसे बोला उसको तक तो आप बिना ब्रह्म ज्ञानम अनासाद हेतु है तर्क दिया है बिना ब्रह्म ज्ञान के आत्मज्ञान से नाश नहीं होता इसलिए उसको अक्षर अक्षर शब्द से बोला क्या शब्द से हाँ, अविनाशी कहा इतने बात है आत्मज्ञान से नाश होगा ये कहना है संसार इत्यादि सबसे कहा था इसको संसार बीज अनंत्यात नक्षर स्थिति अक्षर उच्चते कहा भाषण में संसार के जो बीज है ना अनंत है नाश नहीं होता उसका आत्मज्ञानी बिना इसलिए उसको नाश नहीं होता इसलिए अक्षर सबसे बोल दिया आत्मज्ञान को ब्रह्मज्ञान का नाश नहीं है इसलिए अक्षर कहा गौण प्रयोग है मुख्य अक्षर तो परमात्मा ही है निर्विशेष ब्रह्म ही मुख्य अक्षर है यहाँ कौन प्रयोग है मैंने लंबी आयु है इसकी जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तब तक जीवित आइए क्षर पुरुष तो नष्ट है प्रतिदिन सुसुप्त में नष्ट है प्राणी मात्र को है वहां कोई ज्ञान की आवश्यकता है ही नहीं दूसरे और थोड़ा ऊपर जाएंगे ब्रह्मा जी के दिन रात को लेकर के जो लय होता है नैमित्तिक लय है प्रलय है तो वहां भी क्षेत्र कार्य वर्ग समाप्त होना है कारण रहेगा वहां और एक प्राकृतिक होता है लय वो ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो गई उनकी सृष्टि पूरी समाप्त हो गई ब्रह्मा जी भी पूरे हो गए इसको प्राकृतिक लय कहते हैं प्रकृति में लय हो जाना अज्ञान में है उस काल में किंतु आत्यंतिक लय जो है वो ब्रह्म ज्ञान से लय होना हाँ, चार प्रकार के लय की चर्चा पुराणों में है नित्य नैमितिक प्राकृतिक और आत्यंतिक तरह से समय हो गया है आगे फिर ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णश पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति